अस्य बीजाय शङ्करम् शङ्कराचार्यम् केशवम् बादरायम् सूत्रभाष्यकृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मीति मूर्तिवेदविभागिनि यो मम व्याप्तदेहाय दक्षिणा ईश्वर सिद्धि के लिए अनुमान दिया गया मूल में इसमें पक्ष हो गया क्षिति अंकुर आदि तो क्षिति अंकुर आदि ऐसे तीन शब्द रहे इसमें पक्षता अवच्छेद का क्या होगा इसके लिए निर्णय आरंभ किया गया तो अगर पक्षता अवच्छेद हम क्षितित्व कहेंगे तब साध्य की सिद्धि पक्ष में दो उपाय से किया जा सकता है क्या क्या उपाय है पक्षता अवच्छेद का सामानाधिकरण में साध्य की सिद्धि करेंगे और पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन अगर हम पक्षता अवच्छेद का सामानाधिकरण में साध्य सिद्धि करेंगे क्षितित्व को पक्षता अवच्छेद को मान करके क्या दोष हो जाएगा घटादि में अंशतः सिद्ध साधन होगा क्योंकि घट में भी क्षितित्व रहेगा तो क्षितित्व रहेगा और घट में कर्तृजन्य तो हम मानते हैं कुल जन्य तो है उसमें अगर अभी हम पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन अर्थात सकल स्थिति में अगर हम साध्य सिद्ध करने चलेंगे तो परमाणु में बात हो जाएगी परमाणु में कृतिजन्य तो नहीं रहेगा क्यों परमाणु में कृतिजन्य तो नहीं रहेगा क्योंकि वो जन्य ही नहीं है तो जो जन्य नहीं है वो कर्तजन्य हो जाएगा नहीं होगा तो परमाणु में बाध प्रत्यक्ष तो बाध अर्थात तो जहाँ आपका साध्य नहीं रहेगा वो बाध हो गया अच्छा अच्छा अच्छा बाध अर्थात तो प्रमाणांतरण प्रमाणांतरण यहाँ आगम प्रमाण करेंगे उनका उनका आगम आगम अर्थात श्रुति क्यों कहेंगे और उनका जो आगम है आगम अर्थात श्रुति नहीं है आगम अर्थात साधारण तो जहाँ निगम शब्द व्यवहार हो जाएगा उसको सुनती कह देंगे आगम अर्थात सो जो दर्शन है वो भी आगम में आ जाएगा ये यही आगम प्रमाण उनका दर्शन उनका दर्शन उनके लिए आगम है बौद्ध आगम जैन आगम ऐसा कहा जाता है ना उनका दर्शन में उनका उनका आगम हो जाएगा अच्छा श्रुति को खंडन करते हैं लोग आपका प्रश्न को हम उत्तर दे रहे हैं लोग श्रुति को खंडन करते हैं श्रुति को खंडन करते थे उनका आगम को खंडन करना कोई से बड़ी बात हो गया आप पूछ रहे हैं ना उनका आगमों को क्यों खंडन किया जा रहा है और लोग जब निगमों को खंडन करते हैं <laughs> ये आगमों का क्या बात है तो कोई बात नहीं ठीक है आगे है तो अभी अगर क्षितित्व को आप पक्षता अवक्षत को बनाने से परमाणु में बाध हो गया इसका निराकरण करने के लिए अभी क्या समाधान दिया गया जन्य क्षितित्व को पक्षता अवक्षत को मानेंगे इसमें कौन विरोध किया करके चार बात वो क्या कहते हैं जन्य क्षिति है ही नहीं इसलिए जन्य तो ये व्यावर्तक ये विशेषण आप क्यों दे रहे हैं उसका उत्तर न्याय को क्या दिए हाँ, तो ये स्व शिष्या ने वो शिष्य हेतु ऐसा अद्वैत सिद्धिकार कहीं करेंगे आपका जो बात है वो अपने शिष्यों को सिखाओ तो ये आपका बात लेकर के हम लोग अपना शास्त्र को परिवर्तन नहीं कर लेंगे तो इसलिए हम जन्म तो विशेषण ये देंगे तो ठीक है अभी आपका पक्षता आवश्यक हो गया जन्य शिथित्व तो होने से आगे क्या पूर्व पक्ष शंका क्या जन्य तो ही कह दीजिए तभी तो जन्य तो कहने से क्या दोष होगा पक्षता अवच्छेद को तो और हेतु ये दोनों ये समान हो जाएंगे तो इसका समाधान क्या अच्छा अगर ऐसा हो गया पक्षता अवच्छेद और हेतु समान हो जाएगा तो हमको हानि क्या होगी उपनिर्वाक्य वाक्य से ज्ञान नहीं होगा तो उपनय वाक्य यहाँ किस प्रकार के होगा जैसे कहा जाएगा कि पर्वतो वन्यमान धूमान ये अनुमान में उपनय वाक्य किस प्रकार होगा ना अभी हम ये कह रहे हैं ना पर्वतो वन्यमान धूमान यहाँ उपनय वाक्य किस प्रकार के होगा धूमवान पर्वत अर्थात हम कह रहे हैं कि जो उपनय वाक्य होगा उसमें केवल पक्ष और हेतु ये दोनों का ही कथन होगा अगर आप कहेंगे साध्य व्याप्य हेतु मान पक्ष ऐसे कहेंगे तब तो फिर समान नहीं होगा क्योंकि हेतु में आप साध्य व्याप्य ये अंश भी दिए हैं तो फिर हेतु और पक्षता अंश तक तो समान नहीं हो जाएगा लेकिन इस प्रकार की नहीं कहा जाता है प्राचीन लोग कहते हैं आपको जब उदाहरण में आप व्याप्ति ग्रहण कर लिए हैं तो जो हेतु है वो साध्य व्याप्य है तो अगर उदाहरण वाक्य में ही आपको व्याप्ति ग्रहण हो गया तब हेतु साध्य व्याप्य है फिर आप उपनय वाक्य में दोबारा क्यों कह रहे हैं साध्य व्याप्य हेतु मान पक्ष ऐसे फिर साध्य व्याप्य हेतु क्यों कर रहे हैं इसलिए खाली कहना पड़ेगा हेतुमान पक्ष हेतु तो साध्य व्याप्य है ही आपको पहले से पता है तब उपनय वाक्य हो जाएगा हेतुमान पक्ष तो हेतु मान पक्ष हो जाने से आपका ये समानार्थक हो गया तो ज्ञान नहीं होगा ये अभी समाधान मतलब प्राचीन लोग दे दिए कि समान हो जाएगा तो उस पर यहाँ प्राचीन नहीं पूर्व पक्ष ताकि कि पक्षता अवच्छेद कर हेतु अगर समान हो जाएगा तो ज्ञान नहीं होगा फिर नया के इसके लिए पक्षता अवच्छेद कर हेतु को अलग कर दिया क्या कहा पक्षता अवच्छेद के लिए और हेतु को क्या कह दिया तो अभी आपका पक्ष तावच्छेद करो हेतु अलग अलग हो गया तो फिर ये साम्य दोष नहीं आएगा यहाँ तक विचार हुआ था किसमें न यहाँ अर्थात ये वाक्य आपके लिए व्यर्थ हो जाएगा बोध नहीं अर्थात ये वाक्य अनर्थक होगा इसमें कुछ बोध नहीं आएगा जैसे कहीं घटक तो वान घटक इस प्रकार के वाक्य हो जाएगा अच्छा तो अभी पक्ष भिन्ना कारक अगर तो होगा तो प्रतिबंधक नहीं होगा अच्छा अभी हम पक्ष कह दिए शीति अंकुर आदि तो अभी तीन ये पक्ष का ये अं, घटक का ये तीन अंश आ गए पहले अगर क्षिति कहेंगे क्षितित्व को पक्षता आवश्यक बनाएंगे तो दोष सब दिखा दिए तो या तो अंश तो सिद्ध साधन हो जाएगा नहीं तो पाद हो जाएगा इसको वारण करने के लिए हमारे अंकुर अंश को ले आए अंकुरत्व को अगर पक्षता अवच्छेद को भी जोड़ेंगे कहते क्षितित्व भी होगा अंकुरत्व भी हो जाएगा तो अंकुरत्व को लेने से कोई अंकुर अगर ईश्वर के द्वारा ईश्वर कृति से साध्य नहीं होकर अगर जीव कृति से साध्य हो जाएगा तब हम कहेंगे यानी कि यहाँ सिद्ध साधन है हम ईश्वर कृति साध्य प्रमाण करना चाहते हैं अगर जीव कृति से साध्य हो जाएगा हम कहेंगे सिद्ध साधन है इसी प्रकार की कोई अंकुर हो जाएगा क्या जो जीवीय कृति से साध्य हो जाएगा नहीं होगा इसलिए तो सिद्ध साधन भी नहीं होगा जैसे वहाँ पक्ष का अवच्छेद का अवच्छेदन हम लोग जो साध्य सिद्ध करने के लिए चले तो नित्य क्षिति मिल गया जिससे कहेंगे बाध हो गया इसी प्रकार की कोई नित्य अंकुर मिलेगा नहीं मिलेगा तो पक्षता अवच्छेद का अवच्छेदन पक्षता अवच्छेद अंकुरत्व को मानेंगे तो भी कोई दोष नहीं होगा तो ये हो गया ठीक है इसलिए क्षिति के आगे अंकुर जोड़ दिया अगर आप क्षिति में दोष दिखाएंगे तो अंकुर को हम पक्ष बना करके ईश्वर सिद्ध कर लेंगे तो ऐसा स्थिति होने पर भी आगे देखिए क्या चीज क्षिति को अगर पक्ष बना दिए तो दोष दिखा दिए क्षितित्व को पक्षता आवश्यक मानने से दोष हो गया अभी कहते हैं कि हम क्षितित्व के साथ अंकुरत्व को भी पक्षता आवश्यक नहीं लेंगे एक को नहीं लेंगे क्षितित्व भी है अंकुरत्व भी है दोनों को लेंगे अंकुरत्व को पक्षता अवच्छेद को बनाने से ना आपको साध्य सामान आदि करने लेकर के कोई अंश तो सिद्ध साधन हो जाएगा क्योंकि कोई भी अंकुर जीवी या प्रीति से साध्य नहीं है इसलिए आप सिद्ध साधन नहीं दिखा पाएंगे वहां घट कुलाल के द्वारा साध्य हो जाता था और दूसरा हो गया तो कोई अगर नित्य अंकुर मिल जाए तो परमाणु जैसा बाध हो गया यहाँ भी बाध हो जाएगा किंतु कोई नित्य अंकुर है नहीं है तो इसलिए पक्षता अवच्छेद सामानाधिकरण अथवा पक्षता अवच्छेद न दोनों प्रकार की यहाँ कोई दोष नहीं होगा तो अंकुरत्व को हम पक्षता अवच्छेद को ये ले लेंगे सिद्धित्व भी रहेगा अंकुरत्व भी रहेगा भोक्ता के हाँ, हाँ ठीक है आगे कहीं अदृष्ट के अनुसार अंकुर आ रहा है हाँ, उसके लिए आगे समाधान देंगे अर्थात अदृष्ट को लेकर के जीव ये क्षिति अंकुर इत्यादि में कर्तात्व नहीं माना जा सकता है हम अलग संबंध देंगे इसी संबंध से केवल ईश्वर ही करता होगा आगे दिया जाएगा तो उस संबंध से जीव करता नहीं हो पाएगा उसका निराकरण करेंगे अच्छा ये देखिए रामरुद्री हम लोग उस दिन एक वस्तु तस्तु देखे थे उसके आगे और एक वस्तु तस्तु दिया है द्वितीय वस्तु तस्तु दो पंक्ति आगे दिया है हाँ। क्षिति अंकुराधिकम इति मूल से क्षितित्व अंकुर अंकुरत्व तद घटत्व पक्षता अवच्छेद तात्पर्य क्षिति अंकुर आदि तीन कह दिया आदि कहने से तद घटत्व ये भी पक्षता अवच्छेद हो जाएगा तत्र क्षिति ही सकर्तिका प्रथम प्रयोग है तो क्षितित्व को पक्षता अवच्छेद को केवल मान करके चल रहे हैं तो क्षितित्व सामानाधिकरण न साध्य सिद्धे जब उद्देश्य होगा घटा दो अंशतः सिद्ध साधन हो गया पक्षता अवच्छेद का अवच्छेद न तथात्व अर्थात साध्य उद्देश्य परमाणु बाद हो गया इति अतः अंकुरत्व से पक्षता अवच्छेदकत्व अनुधावनम हम अं- अंकुरत्व को भी पक्षता अवच्छेद फिर बनाया तत्र अभी अंकुरत्व को पक्षता आवश्यक को बनाने से सामानाधिकरण्य न साध्य सिद्धेर उद्देश्य जब कोई अंकुर में हम जाएंगे साध्य सिद्ध करने के लिए वहाँ क्वापी अंकुरे जीवी कृति साध्य तो अभाव है न कोई भी अंकुर जीवी कृति से साध्य नहीं होगा नहीं होने से न अंशतः सिद्ध साधन जैसा क्षिति एक विशेष क्षिति घटक वो कुलाल कृतिजन्य हो गया इसलिए अंश तो सिद्ध साधन हो गया इसी प्रकार की कोई भी अंकुर जीव का कृति से साध्य नहीं होगा नवा बाध बाध भी नहीं होगा नित्य अंकुर से अभाव जैसे नित्य क्षिति हो गया परमाणु उसमें बाध हो गया इना से नहीं है ठीक है ये तो हो गया अभी अंकुर तो पक्षता अवच्छेद हो जा सकता है पूर्व पक्ष कह रहा है ननु क्षितित्व अवच्छेद न अंकुरत्व अवच्छेद न व कार्यत्व हेतु न सकर्तृकत्व अनुमितिर न संभवती आप सकर्तृकत्व आप तो कहते हैं अर्थात सकर्तृकत्व ये आपका साध्य है और आपका हेतु है कार्यत्व कार्यत्व के द्वारा आप सकर्तृकत्व ये सिद्ध नहीं कर पाएंगे ऐसा पक्ष में अर्थात पक्ष का अवच्छेद क्षितित्व अथवा अंकुरत्व होगा तो क्यों होगा ऐसे कहते हैं कार्य तो रूप हेतु अप्रयोजक आपका हेतु अप्रयोजक है हेतु का क्या कार्य है साध्य को सिद्ध करना किंतु हेतु अगर वो नहीं कर पाएगा तो हम विघटक शंका दिखाएंगे कहते धुओ अस्तु बंधिर मास्तु इस प्रकार के कहेंगे तो कहा जाएगा ये जो हेतु है वो प्रयोजक नहीं है अप्रयोजक हो गया उसका जो कार्य नहीं कर पाया ऐसा जब कहते हैं धूमो अस्तु बंधिर मास्तु इस प्रकार की व्यभिचार दिखाने से ये व्यभिचार का विघटन करने के लिए हम तर्क देते हैं तो कहते हैं यदि धूम धूमो बंधी व्यभिचारी अगर धूमो बंधी व्यभिचारी हो जाएगा तो तब ये धूमो बंधी जन्य होगा नहीं होगा किंतु ये धूमो बंधी जन्य है तो है तो फिर व्यभिचारी हो जाएगा नहीं हो पाएगा इस प्रकार की ये व्यभिचार का विघटक तर्क दिया जाता है इसको तर्क कहा जाता है इसी प्रकार की यहाँ आप तर्क नहीं दे पाएंगे यहाँ क्या तर्क हो जाएगा कहते हैं आगे देखिए न तर्क ये हो सकता था कार्यत्व यदि तो व्यभिचारी सियात आपका कार्यत्व हेतु है और कृतिजन्य तो आपका साध्य है तो कार्यत्व यदि कृतिजन्यत्व का व्यभिचारी होता तब कृतिजन्यता अवच्छेद न सियात कृतिजन्य कृतिजन्य होता है कार्य उसका अवच्छेदक तो हो जाएगा कार्यत्व अगर कार्यत्व व्यभिचारी हो जाएगा तो कृतिजन्यता का अवच्छेदक नहीं होना चाहिए इस प्रकार की अनुकूल तर्क अगर होता तब आप कह सकते थे कि ये प्रयोजक होगा इति अनुकूल तर्क सत्वात न अप्रयोजकत्व इसी प्रकार की अनुकूल तर्क है ये पूर्व पक्ष कह रहा है मतलब ये सिद्धांत कहेगा पूर्व पक्ष कह दिया कि हेतु अप्रयोजक सिद्धांत कहता है कि अप्रयोजक नहीं होगा ये प्रयोजक है क्यों कहते हैं कि हम ये अनुकूल तर्क दे देंगे कार्य तुम यदि कृतिजन्य व्यविचार सियात तदा कृतिजन्य अवच्छेद हम्म, न इति अनुकूल तर्क हमारे पास है सिद्धांत क्या है अनुकूल तर्क होने से न अप्रयोजक हेतु अप्रयोजक नहीं है पूर्व पक्ष कहा था कि हेतु अप्रयोजक है यहाँ हेतु क्या है कार्य तो पूर्व पक्ष कहा था हेतु अप्रयोजक है तो सिद्धांत पक्ष से कहा गया कि हेतु अप्रयोजक नहीं है पूर्व पक्ष कहता है कि इति नच वाच्य न च तो- कार्यत्व यदि कृति जन्यत्व व्यभिचारी सियाद तथा कृति जन्यता अवच्छेदक न सियाद इति अनुकूल तर्क सत्वात न अप्रयोजकत्व अच्छा न प्रयोजकत्व हाँ, न अप्रयोजकत्व अच्छा न प्रयोजकत्व हो गया अच्छा ठीक है इसी प्रकार की अनुकूल तर्क सत्व अनुकूल तर्क है इसलिए हेतु प्रयोजक हो जाएगा ये सिद्धांत पक्ष से कहा गया कहने से पूर्व पक्ष कहता है कि नच वाक्य कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भावे माना भावार्थ आप जो ये तर्क दे दिए ये तर्क में आप कृति और कार्य ये दोनों में कार्य कारण है मान करके तर्क दे दिए बन्ही धूम में कार्य कारण भाव है ऐसा मान करके आप कह दिए धूमो यदि बन्ही व्यविचारी सियाद तरी बन्ही जन्य न आप कहते हैं तरी बन्ही जन्य न ऐसा जो कहते हैं आप जानते हैं ना कि धूमो बन्ही जन्य है या वो मान करके ऐसा कह रहे हैं किंतु यहाँ कृतित्व और कार्य तो इसमें कार्य कारण भाव है ही नहीं आप कैसा ऐसे अनुकूल तर्क दे देंगे अभी पूर्व पक्ष कहता है कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव माना भाव तो कृति और कार्य ये दोनों में कार्य कारण भाव नहीं है अर्थात कृति कृति कहाँ रहेगा कहाँ रहेगी आत्मा में और मान लीजिए कि अभी हम घटा बना रहे हैं ये कार्य घट ये कहाँ रहेगा कपाल में रहेगा तो अभी कृति और कार्य ये दोनों में आप समानाधिकरण कैसे करेंगे नहीं तो कार्य कारण भाव कैसे होगा लेकिन तो ये घट कपाल में किस समय से रहेगा समवाय समय से ये कृति जो कि कुलाल आत्मा में रहेगा ये विशेष्यता संबंध से जाकर के कपाल में रहेगा कुलाल घट को उद्देश्य करके कपाल में ही अपना कृति कपाल विषय को कृति करेगा उद्देश्य करेगा घटकों किंतु उसका कृति का विषय हो जाएगा सामने में कपाल है तो ये कपाल में कुलाल का कृति विशेषता संबंध से रहेगा आगे पंक्ति आएगा देंगे उसको तो विशेषता संबंध है ना कृति जाकर के कहा रहेगा कपाल में और उसी कपाल में कार्य घट किस समय से रहेगा समय तो कृति और कार्य ये दोनों में कार्य कारण भाव ऐसा सिद्धांति कह रहा था पूर्व पक्ष कहता है कि ऐसे होने में कोई प्रमाण नहीं है पूर्व पक्ष कह रहे हैं कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भावे माना भावे न ऐसा कोई प्रमाण नहीं है नहीं होने से उक्त तर्क अनवतारा आप ये जो तर्क दे दिए कि अगर कार्य तुम कृतिजन्य तो व्यभिचारी हो जाएगा तो कृतिजन्यता अवच्छेद नहीं होना चाहिए इस प्रकार की जो तत्व दे दिए धूमो यदि बनी व्यभिचारी सियात तभी बनी जन्य न सियात ये आप तभी कहते हैं कार्यकरण भाव को जहन कर ले किन्तु कार्यकरण भाव यहाँ होने में कृतित्व कार्यत्व कार्यकरण भाव होने में कोई प्रमाण नहीं है कृतित्व कार्यत्व कहने का अर्थ कार्यकरण भाव कृति और कार्य में हो रहा है किंतु कृति कृतित्व न कार्य कार्यत्व इस प्रकार की कार्य कारण भाव जब हम कहते हैं कि घट और कपाल में कार्य कारण भाव है कपाल और कपालत्व न घट घटत्व इसी प्रकार के यहाँ कृति और कार्य कृति होने से कार्य बनेगा ये कार्य कारण भाव कह रहे हैं अवच्छेद तो हो जाएगा कृतित्व और कार्यत्व पंक्ति यहाँ हो गया कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भाव माना भावा कोई प्रमाण नहीं है नहीं है तो फिर आप जो अनुकूल तर्क दे दिए ये अनुकूल तर्क नहीं होगा कृति हेतु है कार्य कार्य हेतु है कार्यत्व अर्थात हाँ वहाँ कार्यत्व हेतु है वास्तविक कृति कार्यत्व सकल कार्य हमारा हाँ, अच्छा अच्छा, अच्छा। यहाँ न कार्य तो हेतु ही है यहाँ कार्यत्व और कृतित्व हम वहाँ कृतित्व हमारा साध्य है अर्थात कर्तृजन्यत्व तो कह देते हैं तो साध्य भी उसी प्रकार के अर्थात यहाँ कहना चाहते हैं कि कार्यत्व अर्थात सकल कार्य कृतित्व अर्थात सकल कृति अर्थात कोई भी कार्य हो उसके लिए एक कृति कारण होना चाहिए अच्छा, माना बाबा कृति और कार्य का बीच में कार्यकरण भाव अवच्छेद तो हो जाएगा ये दोनों जैसे हम धूमो बनी में कार्यकरण भाव कहेंगे किंतु कहने का समय क्या गया धूमत्व बंधित्व कार्यकरण भाव कहेंगे अर्थात धूमत्व अवच्छिन्न कार्य प्रति बंधित्व अवच्छिन्न कारण हो जाएगा हाँ कार्य भाव हाँ, यहाँ अवच्छेदकों को लेकर के मतलब अनुमान में जो अवच्छेदक है इसको यहाँ कह रहा है ना अनुमान में जो हेतु लगा रहे कृतित्व अवच्छेदन कृतित्व अवच्छिन्न कर्तृजन्य हम कह दिए हैं तो हमारा साध्य क्या हो जाएगा हम कह देंगे स्त्यंकुरादिकम कर्तृजन्य तो हमारा साध्य हो जाएगा कर्तृजन्य तो इस प्रकार की बात कार्य तो जो है कार्य है हाँ किंतु वास्तव में यहाँ जो दिखा रहे हैं कार्य तो रहेगा कार्य में घट में कृति तो रहेगा कृति में जो कि कुला लगा आत्मा में कृति रहेगा उसमें और समान अधिकरण जो कर रहे हैं कृति और कार्य में क्योंकि कृति होने से कार्य होगा आपका बात हम समझ गया मतलब उसका उत्तर अर्थात आप जो पूछना चाहते हैं वो हम फिर थोड़ा सोच करके उसको बताएगा कब तक आएगा उसका तो अभी यहाँ कहने का अर्थ कृति और कार्य ये दोनों का बीच में कार्यकरण भाव है और तो अवच्छेद कृतित्व और कार्यत्व ये हो गया अभी सिद्धांत कहेगा कि आपने कह दिया कृतित्व न कार्यत्व न कार्य कारण भाव नहीं है तो यहाँ अन्वय व्यतिरेक एवं मान अर्थात कृति सत्व कार्य सत्व कृति अभाव है कार्य अभाव ये तो अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध होगा आप कैसे कहते हैं कि यहाँ अप्रयोजक है उसको पक्ष कह रहा है कुलाल कृति सत्व घटस तद अभाव है घटाभाव इस प्रकार के आप कहेंगे पूर्व पक्ष सिद्धांत को कह रहा है आप जो कहते हैं अन्वय व्यतिरक होगा तो आप कहेंगे कि कृति सत्व है घट कुलाल कृति अभाव है घटा अभाव इस प्रकार के आपको कहना पड़ेगा इति विशेष एवं अन्वय व्यतिरेक ग्रहात विशेष रूप में अन्वय व्यतिरेक हुआ अर्थात कृति सत्व घट रूप कार्य सत्वम विशेष में कार्य कारण भाव ग्रहण हुआ तंतुवाय कृति काले जिस समय में तंतुवाय कृति कर रहा है उस समय में भी कृति है किंतु घट सत्व हो जाएगा क्या तो कार्य तो नहीं हुआ तो अर्थात पूर्व पक्ष कहता है कि आप जो कह दिए कृतित्व न कार्यत्व न कार्य कारण भाव हो जाएगा वो नहीं होगा विशेष कृतित्व न विशेष कार्यत्व ही कार्य कारण भाव होगा सामान्य रूप से कार्य कारण भाव नहीं बनेगा ये अभी पूर्व पक्ष कह रहा है कुलाल तंतुबाय कृति काले घट उत्पत्ति आपत्ति वारणाय घट उत्पत्ति न हो जाए क्योंकि तंतुबाय जब कृति करेगा उस समय में भी कोई एक कृति आ गया तो कृति आ जाने से अगर कार्य होने लगेंगे तो कहीं घट रूप कार्य भी हो जाए इसको वारण करने के लिए कुलाल कृतित्व घटत्व विशिष्य कार्य कारण भाव से आवश्यकत्व इसलिए जो कृति और कार्य में जो कार्य कारण भाव कहेंगे वो विशेष कार्य कारण भाव होगा होने से सामान्यतः कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भावे माना भाव पूर्व पक्ष तीन पंक्ति ऊपर में कहा था कृतित्व कार्यत्व कार्य कारण भाव माना भाव अभी पूर्व पक्ष उसको निश्चय कर दिया विशेष रूपेण आप कार्य कारण भाव कह सकते हैं सामान्य रूपेण नहीं कर पाएंगे अभी उसके ऊपर सिद्धांत कहता है कि नच नच तो पूर्व पक्ष कहेगा सिद्धांत कह रहा है कि यद विशेषयोर इति नियम एवं मान यद विशेषयोर ये एक नियम है आप लोगों का जो पुस्तक में टिप्पणी दिया है हाँ, इसमें भी दिया है देखिए यद विशेषयो कार्य कारण भाव तत्सामान्योरअपी असति बाधक है कार्य कारण भाव ऐसा लिखा है असति बाधक है लिखना पड़ेगा अच्छा सब में लिखना पड़ेगा ठीक है यद विशेषयो कार्य कारण भाव तत्सामान्योरअपी असति बाधक कार्य कारण भाव है अच्छा कार्य कारण भावा भाव भाव भाव भाव कार्यकरण भाव का अभाव हो गया तो विशेष में कार्यकारण भाव नहीं रहेगा तो सामान्य में कार्यकारण भाव रह जाएगा ये तो बिल्कुल विपरीत हो गया तो इसमें वो आप जो बोले हैं वो असती बाधक है ना असति बाधक के तो अलग अर्थ हो गया यहाँ कहना चाहते हैं कि जिस विशेष में कार्य कारण भाव रहेगा उस सामान्य में भी कार्य कारण भाव रहेगा असति बाधक है अगर बाधक नहीं है तो विशेष में कार्य कारण भाव देख लिए किन्तु सामान्य में कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा कोई बाधक है तो फिर वहां सामान्य में कार्य कारण भाव नहीं हो पाएगा किंतु अगर बाधक नहीं है तो विशेष में कार्य कारण भाव देखने से सामान्य में भी कार्य कारण भाव अनुमान कर लेंगे यहाँ कहा जाता है असति बाधक कार्य कारण भाव कार्य कारण भाव तो कार्य कारण भाव का अभाव नहीं होगा कार्य कारण भाव ही करना है अभी सिद्धांत पक्ष से ये बात कहा गया अभी रामरुद्री में यद विशेष रीति नियम एवं मान सिद्धांत कहता है पूर्व पक्ष कहता है इति नच वाक्यम तस्या भी अप्रयोजकत्व ये बात कहने के लिए आपके पास क्या अनुकूल तर्क है विशेष में कार्य कारण भाव हो जाने से सामान्य में कार्य कारण भाव हो जाएगा ऐसा आप नहीं कर पाएंगे तो सामान्य में कार्य कारण भाव नहीं होने पर भी विशेष में कार्य कारण भाव हो सकता है बहुत दृष्टांत मिल जाएंगे सामान्य में नहीं है क्योंकि विशेष में कार्य कारण भाव हो जाएगा इस प्रकार के तो यहाँ पर खंडन हो गया अर्थात तो ये विचार होकर के हो गया कि इसलिए अंकुरत्व को भी आप नहीं ले पाएंगे अर्थात पक्षता आवश्यकता तो नहीं ले पाएंगे तो अंकुर पक्ष में आप कार्यत्व को हेतु बना करके कृतिजन्यत्व रूप को ये साध्य को सिद्ध नहीं कर पाएंगे क्योंकि कार्य और कृति ये दोनों में आप कार्य कारण भाव नहीं दिखा सकते हैं ये निराकरण हो गया तो ठीक है अभी क्षिति अंकुर अंतिम कहा आदि तो आदि कहने से हम घट को ले लेंगे घट जो है अभी घट को पक्ष बनाएंगे कहेंगे अधुनातन घट को पक्ष बनाएंगे उसे तत्जनकत्व ईश्वर सिद्धि हो जाएगी नहीं होगा इसलिए हमको सर्व का आदिकालीन घट को लेना पड़ेगा तो वहां सर्व का आदिकालीन घट वो कर्तृजन्य होगा इसमें क्या प्रमाण है फिर कहेंगे वर्तमान कालीन जो घट है वो कर्तृजन्य है तो यहाँ कुलाल जनक है जो सर्ग का आद्य घट है वहां तो कुलाल नहीं है इसलिए वहां ईश्वर उसको बनाया कहीं सर्ग का आद्य घट को ईश्वर क्यों बनाएगा इसमें क्या प्रमाण है ये हो सकता है कि कोई कुलाल आया फिर उसके बाद वो घट बना ईश्वर अगर घट बनाएंगे तो ईश्वर कुलाल हो जाएंगे इस प्रकार के दोष देने से कहते हैं ईश्वर कुलाल है तो ईश्वर ही कुलाल है क्यों कहते हैं सामर्थ्य जिसमें घट बनाने का है तो उसको कुलाल कहने से क्या हानि है ईश्वर प्रथम घट बनाए और कुलाल बना इसलिए पंचम अध्याय में रुद्री में है ना हाँ, कुलाल नमः कुलालभ्य कर्मारभ्य तो कुलाल कर्मार वो सब सिद्धि है तो इस प्रकार की कहते हैं तो कहते हैं ठीक है स्वर्ग का आद्यकालीन एक घट होगा और उसको ईश्वर बनाएंगे हो सकता है कि ऐसे आद्यकालीन घट नहीं है उसमें संशय है हो सकता है कि पहले मनुष्य आ गए कुलाल आ गए उसके बाद घट बना इसलिए सर्व का आद्यकालीन घट उसको भी हम पक्ष बना करके ईश्वर सिद्धि नहीं कर पाएंगे तो अभी कहते हैं खंड घट को पक्ष बनाएंगे खंड घट अभी सामने में है खंड घट अर्थात वो घट जिसमें हम लोग एक बार टेढ़ा करके जलपान कर लिए अभी उसमें थोड़ा घिस गया और नया एक लोग क्या कहेंगे तद अवयव समवेत घट अभी है जो अवयव घिस करके निकल गया तो वो घट नाश हो गया तो नाश हो जाने के बाद अभी जो नूतन घट आया वो तो हमारे घर में तो अभी कुलाल नहीं है तो नहीं होने से उसको कौन बनाया इसका जनकत्व न ईश्वर सिद्ध हो जाएंगे तो खंड घट का जनकत्व न ईश्वर सिद्ध होगा यहाँ तक ये सब विचार में किया है अच्छा तो ठीक है आगे चलेंगे दिनकरी में

ये अर्थात कार्य तो ये हेतु होगा ये इसको पक्षता उच्छेद कोटि में नहीं लिया हेतु होगा कार्य के प्रति हम हेतु किसको बना दिए थे प्राग अभाव प्रतियोगित्व ये शब्द का अर्थ इस प्रकार कर दिया हाँ राग अभाव में हेतुता वो तो अनुमान में है हाँ। उसका ही आत्म बोल रहा है तो उसको ही निर्देशन करना चाहिए ना क्या देखिए प्राग अभाव प्रतियोगित्व ये हमारा कार्यत्व है तभी ये जो कार्यत्व है प्राग अभाव प्रतियोगित्व इसको हम कह रहे हैं कि प्रतियोगिता अवच्छेद मतलब प्रतियोगिता संबंधे न प्राग भाव प्रतियोगिता संबंधे न प्राग भाव न प्रतियोगिता संबंध है न प्राग भाव कहाँ रहेगा हाँ ठीक है प्रतियोगिता संबंध है न कि प्राग भाव जाकर के कहाँ रहेगा प्रतियोगी कौन है कार्य है तो प्रतियोगिता संबंध है ना प्राग भाव जा करके कार्य में रह गया ये कार्य तो कहाँ रहेगा कार्य में रहेगा तो जो कार्य में रहने वाला कार्य तो हुआ ये प्रतियोगिता संबंध है न प्राग भाव ही है अच्छा ठीक है आपका बात ठीक है अर्थात कार्यत्व तो का अर्थ हो जाएगा प्रतियोगिता संबंध है न भाव ये अभी हेतु हो जाएगा ठीक है प्राग प्रागभाव हेतु उसका अर्थ हो गया ये प्राग भाव का प्रतियोगी होना चाहिए हाँ। कार्य प्राग भाव का प्रतियोगी है हमारा हेतु कार्य नहीं है हमारा हेतु क्या है कार्य में रहने वाला कार्य में रहेगा प्राग भाव कार्य में रहने वाला कार्य तो हमारा हेतु है ना अब ये कार्य तो क्या है कहते हैं प्रागुभाव कार्य हेतु ये खिस्तियों कार्य कार्य तो हमारा हेतु है ये कार्य तो जो कार्य में रहता है ये कार्य तो क्या चीज है कहते हैं प्रागभाव घट में प्रागभाव रहेगा यही कार्य तो हुआ प्रतियोगी तो कार्य है प्रतियोगी कार्य है कार्य कितनी संबंध से प्रतियोगिता संबंध है ना प्रतियोगिता संबंध है ना प्रागभाव आकर के कार्य में रह जाएगा तो कार्य में रहा और कार्य में रहा कार्य तो कहते हैं कार्य तो यही है प्रतियोगिता संबंध है ना प्रागभाव ये हमारा हेतु हो जाएगा ठीक है अभी ये हेतु और पक्ष ये विचार हुआ आगे कहते हैं साध्य क्या होगा उसके लिए दिखाते हैं साध्यम न सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा तुम आपका साध्य था कृतिजन्य तो कर्तजन्य कहते थे तो कर्तजन्य कर्ता उसको कहेंगे जो कृतिमान होगा अर्थात आपका कर्तजन्य का अर्थ हो जाएगा कृतिमान जन्य तो कृतिमान जन्य उसको कृतिमान क्यों कहते हैं कृति उसमें रहता है तो कृतिमान जन्य का तात्पर्य यही है कि कृति जन्य क्योंकि अगर उसमें कृति नहीं होगी तो फिर तजन्य कार्य नहीं हो पाएगा इसलिए कृतिमान जन्य का अर्थ हो गया कृतिजन्य अच्छा क्योंकि कृति जन्य जब हो सकता है हम कृतिमान जन्य कहेंगे वो गौरव है ना तो इसलिए कृतिजन्य ले लिया गया तो ये कृति अभी किन विषय को किन विषय का होना चाहिए कहते हैं स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्य तुम इतना ये साध्य सामान्यतया माना जाता था अभी कहा जाता है कि पूर्व पक्ष कहेगा कि स्व उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति जन्य तुम ये साध्य नहीं होगा स्व स्वपद से कार्य कार्य का जो उपादान घट का उपादान कपाल कपाल गोचर कपालम गोचरो यश अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृत्य अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा और कृति इसका विषय हो जाएगा शो का उपादान उपादान हो गया कपाल कपाल विषय को अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए और ये चिकित्सा होना चाहिए और ये कृति भी होनी चाहिए उससे जन्य होगा इस प्रकार की सामान्यतया साध्य कहा जाता है सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृति तुम अभी पूर्व पक्ष कहता है कि ये नहीं होगा अर्थात साध्य ये नहीं होगा दोष दिखाता है कार्य कार्य मात्र प्रति कृत अन्वय व्यतिरेकाभ्याम हेतुत्व तत् जनक ज्ञान चिकित्सा तत्र अन्यथा सिद्धत्व तद तृतय जन्य रूप साध्य से तत्र बाधा जब कार्य मात्र के प्रति कृति ही हेतु हो सकती है क्योंकि आप कहेंगे यत्र कार्यम तत्र कृति जब कृति ही अन्वय व्यतिरेक से कार्य के प्रति हेतु हो जाएगी तो फिर ये अपरोक्ष ज्ञान और चिकित्सा ये दोनों को क्यों चिकित्सा ये इसको क्यों लाते हैं और नया एक लोग कहते हैं प्रथम होगा ज्ञान ज्ञान होने के बाद चिकित्सा इच्छा इच्छा होने के बाद कृति कृति के बाद कार्य क्रिया होगा कार्य तो अभी जब कृति से ही आपका कार्य बनेगा तो ये जो चिकित्सा और ज्ञान ये पूर्व में रहेंगे और चिकित्सा और ज्ञान ये कृति के प्रति कारण भी है जब कृति से हमारा कार्य हो सकता है तो कृति का जो कारण है उसको फिर कारण कुटी में लेना क्या जरूरत है वो तो कारण का कारण हो गया जो कारण का कारण होता है उसको अनन्यथा सिद्ध कहते हैं अन्यथा सिद्ध तो अभी पूर्व पक्ष कहता है कि कार्य मात्र प्रति कृत्य कृते रेव अन्य व्यतिरेकाभ्याम है ना अन्य व्यतिरेक से कृति ही कार्य के प्रति हेतु हो जाएगी तो तजनक ज्ञान चिकित्सा तजनक अर्थात कृतिजनक कृति का जनक जो ज्ञान और चिकित्सा चिकित्सा तत्र अन्यथा सिद्धत्व न तो कारण से कारण हो गए हो होने से कार्य के प्रति अन्यथा सिद्धत्व न तद तृतय जन्यत्व रूप साध्य तत्र बाधा तत्र टीका में दे दिया कार्यत्व तो रूप पक्षी कार्य रूप पक्ष क्योंकि हमारा पक्ष है जन्यम कृतिजन्यम कार्यत्व इस प्रकार के अंतिम में जब हम पक्षता अवच्छेद का निर्णय करते थे अंतिम में कहते तो को पक्षता अवच्छेद का बना लें तो अनुमान इस प्रकार के दे रहे हैं तो तो रूप पक्ष में ये तृतीय जन्य तो नहीं लेना चाहिए केवल कृत्य तो कहने से हो जाएगा बाकी दो अन्यथा सिद्ध हो गए यहाँ तक ये विचार हुआ तभी हमारा जो साध्य है सो उपादान गोचर अपरोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिजन्यत्व ये नहीं बनेगा फिर कितने जन्य तो होगा केवल कृति जन्य तो होगा अपरोक्ष ज्ञान और चिकित्सा ये दोनों क्या हो जाएंगे अन्यथा सिद्ध हो जाएंगे यहाँ तक होने से पूर्व पक्ष आगे करता है आज यहाँ रखेंगे कैसे तो वही जन्य पक्ष हो गया आपका जन्य जन्य स्व उपादान गोचर कृतिजन्यम कार्यत्वा इस प्रकार कहते हैं कृतिमत्व कृतिमत्व जन्यत्व कृतिमत्व का अर्थ हो जाएगा कृति धूमत्व का अर्थ हो गया धूम जन्यत्व जो कृति जन्यत्व रूप साध्य से साध्य से कृति जन्यत्व को जन्यत्व दे दे बाधा कहाँ जन्यत्व रूप साध्य दिया है कहाँ पड़ गया जन्य तो जन्य नहीं होगा केवल कृति जन्य हो जाएगा बाकी तो अन्यथा सिद्ध हो गई ओम शंकर शंकराचार्य केशव वादरायण सूत्रभाष्य वंदे भगवंतो पुनः पुनः ईश्वर गुरात्मे मूर्ति विभागे प्रातदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः ॐ शान्ति शान्ति